अतिशय प्रेम देखि रघुराय लीन है सकल विमान चढ़ाए मन मह प्र चरण सिरुनायो उत्तर दिशे विमान चलायो चलत विमान कुलाहल होए जय रघुबीर कहीं सब कोई सिंहासन सिंहासनयते उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठता पर श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया विमान के चलते समय बड़े शोर हो रहा है सबको श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए राजत राम सहित मेरु भी जनु घन दामिनी विमानु चले उति आय सुमन कुमनृ श्रीहर से सुर परम सुखद चले त्रिविध बयारे सागर सर सरे निर्मल बारी सगुन होए सुंदर चहुपासा मन प्रसन्न निर मलन भयासा पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की अत्यंत सुख देने वाली तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे सबके मन प्रसन्न है आकाश और दिशाएं निर्मल हैं कहर घुबीर देखु सीता लक्ष्मण हतो इंद्र जीता यंग गद के मारे मही परे निशाचर भारे कुंभकरण रा वन दौ भाए इहाते सुर मुनि दुखदाए श्री रघुवीर ने कहा हे सीते रणभूमि देखो लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए यहाँ से तू बांधो वरु थापिव शिव धाम सीता सहित कृपा निधि शंभुहि के प्रणाम जह जह कृपा सिंधु बना बास विश्राम सकल दिखाए जान की कहे सबनी के नाम मैंने यहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र ने जी ने निवास और विश्राम किया था वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए तुरत विमान कहाँ चल आवा लंडक बन जह परम सुहावा नायक नाना गैरामु सब के स्थान सकल सन पाये पायशिषा चित्रकूटया ये तह कर मुलिन केर संतोषा शराबिमानता हाथ चोखा विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला बहुरी राम जान के दिखाए जमुना कले मल हरण सुहाए पुन देखे सुर सरे पुनेता राम कहा प्रणम सीता तीर्थ पति पुनि देखु प्रयागा निरखत जन्म कोट्यघ भगा देखु पाव वनि पुन हरनि शोकहर सेनी मुनि देखो अवध पुरियति पावन त्रिविध ताप भव रोगन सावनी फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए श्री राम जी ने कहा हे सीते इन्हें प्रणाम करो फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो जो शोकों को हरने वाली और श्रीहरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है सीता सहित कहो, कहु कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनपुनि पुन प्रभु आय त्रिवेणी हरषितमजनु कपिन सहित कहो, दान विविध विधि देन यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया सजल नेत्र और पुल के शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए